कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं वातावरण तैयार करते हैं और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है उसका ताज़ा उदाहरण है स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू आ गया स्वाइन फ्लू आ गया स्वाइन फ्लू आ गया सारे देश में हल्ला हो रहा है अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके के स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन और 1200 लोग करीब करीब दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं हृदय घात की बीमारियों से 800 से हज़ार लोग हर दिन मरते हैं तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं कैंसर हार्ट अटैक दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है swine flu swine flu swine flu इसका एक रहस्य है रहस्य इसका ये है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता दमा का वैक्सीन नहीं बनता अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता मतलब सीधा सा ये है जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है सार्स का वैक्सीन बन सकता है और थोड़े दिन पहले वर्ल्ड फ्लू आया था उसका वैक्सीन बन सकता है तो एवियन फ्लू है वर्ल्ड फ्लू है सार्स है स्वाइन फ्लू है इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है छपवाई जाती हैं बनवाई जाती हैं एक अमेरिकन कंपनी है वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है टैमी फ्लू और जानकारी ये मिली है कि टैमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ नियंत्रण के बाहर हुआ और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया अब वो 30 देश हैं वो टेमी फ्लू के ग्राहक हो गए वायरस निकला अमेरिका से ग्राहक हो गए उनके दुनिया के तीस देश के लोग अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं टेमी फ्लू खाओ टेमी फ्लू खाओ टेमी फ्लू खाओ जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं ऐसे भी कई डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि टेमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ क्योंकि आपने टेमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है फिर कितना भी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं पहला उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा टेमीफ्लू दवा बेचना जो पिछले दसियों साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है अब वो गोडाउन खाली करना है अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो रोज़ इस्तेमाल करें और फेंक दें ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो डर दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगंडा है मुझे तो एक ही बात कहनी है वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है मीडिया फ्लू है मीडिया ने पैदा कर दिया मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं बहुत गंभीर है आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं कितनी नराधम है सन 1916 से 1918 के बीच में दो साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली एवियन फ्लू वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है साढ़े चार करोड़ साढ़े चार करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए और साढ़े चार करोड़ लोग जो प्रभावित हुए फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से तो मात्र छः हजार लोग मरे थे मात्र हजार लोग मरे थे अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें हजार लोग मर गए सारी दुनिया में आतंक फैल गया उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने और आपको सुनकर दुख होगा उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में और पता नहीं कितने अपंग हो गए कितने विकलांग हो गए बीमारी आने से 6000 लोग मरे बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया फैलाया सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में सबसे ज़्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में ब्राज़ील में मैक्सिको में चिली में कोस्टारिका में कोलंबिया में फिर अफ्रीका में नाइजीरिया में सोमालिया में इथियोपिया में दक्षिणी अफ्रीका में रोडेशिया में तो अफ्रीका लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था उसका वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ अंधाधुंध बिक्री हुई 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए उसका क्या एवियन फ्लू में तो 6000 लोग मरे वैक्सीन लगने के बाद इतने माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा क्यों क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है वायरस से ज़्यादा डर फैला है आतंक फैला है दहशत फैली है तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं तीन हज़ार रुपये आएगा अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और तीन हजार रुपए का एक वैक्सीन आए तो तीस हजार करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई अफ्रीका में लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है बीस साल का तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती बीस साल तक तो बीस साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत आतंक और डर बिठाया जा रहा है और मैं इसी संदर्भ सरकार ने डब्ल्यू करार किया है उसमें ये कंडीशन है कि जो कुछ भी भारत में उत्पन्न होता है वो प्रदेश से खरीदी थी कि विदेशी चिकन लाए हैं तो बिकेगा कैसे तो इन्होंने एक खबर बनाई कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में बर्ड फ्लू फैल गया अब नंदुरबार जिला ऐसा दूर है कोई जाके देख भी नहीं सकता उसको हाँ कोई नहीं जा सकता क्योंकि रेल जाती नहीं है और दूर इंटीरियर जंगल में है तो फैल गया अब वो एक अखबार में छपी फिर दो में छपी फिर दस में फिर सब जगह जहां हर क्या हुआ महाराष्ट्र सरकार ने जियो निकाला सब मुर्गियों को मार डालो सब मुर्गों को मार डालो तो मुर्गे मुर्गी काट डाले इन्होंने दस करोड़ हाँ फिर गुजरात में हुआ फिर जब ये मुर्गियां कट गई तो देश में चिकन और मटन की कमी आई तो परदेश से खरीदो अब मुर्गे मुर्गियां तो गेट करार को साइन करके परदेश से मुर्गे मुर्गी इन्होंने खरीदे और जब वो परदेश के मुर्गे मुर्गी आ गए और उनका मांस बिक गया तो अब बर्ड फ्लू भी खत्म हो गया अब कहीं अखबार में कोई खबर नहीं है और बेचारे किसान सब मर गए जिन्होंने अपनी मुर्गे मुर्गियों को मार डाला सरकार ने कहा था कि सबको दो दो सौ रुपए मिलेगा मुर्गी मार दो अपनी और हमको बताओ कितनी मारी तो मार डाली अब वो पचास रुपए भी नहीं दे रहे किसी को चालीस रुपए दे रहे किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा तो उस समय भी मैंने कहा था कि किसी को भी अगर बीमारी है आप मेरे पास लाओ बर्ड फ्लू क्योंकि मैंने आरोग्य मंत्री तक इसकी तपासनी किया था कि मुझे केस बताओ कहाँ कहाँ है किस किस गांव में है मैं जाके इलाज करूंगा तो उनका केस एक भी नहीं है हमारे पास तो मैंने कहा इतना बड़ा तमाशा क्यों किया हुआ है तो उन्होंने कहा शक्यता है तो शक्यता तो मैंने कहा यह भी है कि अभी धरती कम फटेगी और हम सब नीचे घूम जाएंगे शक्यता तो ये शक्यता तो ये भी है ये छत टूट पड़ेगी हम सब मर जाएंगे है कि नहीं शक्यता शक्यता का तो कुछ पक्का आधार नहीं रहता तो मंत्री कहता है शक्यता है इसलिए दस कोटी को मार डाला बाद में कहानी समझ में आई कि परदेशी चिकन खरीदने का था इसके लिए भारतीय मुर्गे मुर्गी मारे ताकि मार्केट में डिमांड खड़ी हो सबको डर हो जाए कि भारतीय मुर्गी खाओ तो वर्ल्ड फ्लू होगा तो विदेशी खाओ ये धंधा है खाओ कितना भी खाओ उबाल उबाल के खाओ और जो असेंबली है ना इसमें बैठने वाले आमदारों ने खा खा के दिखाया देखो हम खा रहे हैं तुम भी खाओ शरद पवार तक ने दिखाया कि मैं खा रहा हूं तुम भी खाओ बात कर <laughs> देखो ऐसा है ऐसा है ये मैं आपको बताता हूं इसलिए कि आपके दिमाग में थोड़ी सफाई रहे समाज को थोड़े दिन के बाद आप बताओ तो अपने आप समझ में आएगा जब ये बर्ड फ्लू का हुआ ना अब समझ में आ रहा है सबको जिनकी मुर्गियां कटी हैं वो सब कह रहे हैं कि धोखा हो गया हमारे साथ तो कई बार क्या होता है कि समाज को असली सत्य स्वीकार करने में बहुत समय लगता है क्योंकि झूठ सुनते सुनते आदत पड़ गई है और वो क्या मानते हैं कि जो अखबार में छप गया वो सत्य है लेकिन उनको ये माहिती नहीं है कि अखबार में पैसा देकर बहुत कुछ छपवाया जाता है आप कभी भी अखबार पढ़ना उसमें अगर कोई ऐसी बात नहीं है हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ समझना ये बोगस है पूरा क्योंकि वो पैसा लेके बातें छापी है उन्होंने हाँ हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये सब बोगस बात नहीं होती है क्योंकि है ही नहीं उनके पास कोई नाम बताएंगे क्या अगर वो नाम बताएं तो मैं जाके पकड़ सकता हूं भाई तुम्हारे नाम से ये छपी है बताओ कहां है तो सब अखबार वाले बोगस करने के लिए एक वाक्य डाल देते हैं हमारे विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ऐसा हुआ है अब वो विश्वस्त सूत्र क्या है किसी को माहिती नहीं है और इसमें क्या होता है उन पर मुकदमा भी नहीं चल सकता क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जहां विश्वस्त सूत्र शब्द है समझ लो वो सत्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता समझ में बात तो उस पर केस नहीं चल सकता क्योंकि कानून में लिखा हुआ है और ये पब्लिक को उल्लू बनाते रहते हैं